धरी बैठ बैठ भुवालो सुमंत्र कह राम कृपालो कहाल कालफल कह राम सने कह कः प्रिय मधु वै बलपतरा विकल बहु भाते भय जोग सिराति सिराते नराती तापस अंध साप सुधियाए कौशल रहे सब कथा सुना धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले सुमंत्र कहो कृपालु श्री राम कहाँ हैं लक्ष्मण कहाँ हैं स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं वह रात युग के समान बड़ी हो गई बीतती ही नहीं राजा को अंधे तपस्वी श्रमण कुमार के पिता के शाप की याद आ गई उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई भयवो बिकल बर न इतिहासा राम रहे तधिग जीवन आसा सोतनु राखे करब मय का जहिन प्रेम पनु मोर निभा घुनन्दन प्रण तुम बिन जत बहुत दीन बीते आजान के लखन हार गोबर हापे पितहे तीत चातक जल धर उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाहा हार कुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए हा जान के लक्ष्मण हा रघुबर हा पिता के चित्रूपी चातक के हित करने वाले मेघ राम राम कश राम कहे राम राम कहे राम तनु परिहरे रघुबर विरह राम गए सुरधाम राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए जियन मरण फल दशरथ पावा अंडयने अमल जसुछावा जियत राम विधु बदनु निहारा विरह करी मरणु समारा शोक विकल सब रो महिराने रूप से बलो से जुब खानी करही बिलाप अनेक प्रकार भूमि तल बार जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया सब रानियाँ शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं वे राजा के रूप शील बल और तेज का बखान कर करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर गिर पड़ती हैं बिल बेकल से घर घर रुदनो करहि पुरभासी पाठ आयजु आजु भानुकुल भानो धर्मय वधि गुण रूप निधानो गारी सकल कैक देहे नयन बिहेन किन् जग जेन ही बिझ बिलपत रैन बिहाने आए सकल महामूल दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं कहते हैं कि आज धर्म की सीमा गुण और रूप के भंडार सूर्यकुल के सूर्यास्त हो गए सब कई कई को गालियाँ देते हैं जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास शोक निवार सब ही कर निज विज्ञान प्रकाश तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर कर दिया